तो सर्वप्रथम उपाय योग चित्त वृत्ति के निरोध के प्रति सर्वप्रथम उपाय जो बताया गया वो अभ्यास और वैराग्य सर्वशास्त्र में प्रसिद्ध है ये अत्यंत सरल उपायों में से मान अभ्यास और ये अगला सूत्र पढ़ने से मालूम होगा बहुत कठिन सुनने में तो बहुत सरल लगता है अभ्यास करना है और विराय वैराग्य हो तो विरक्त हो जाना है खत्म मुक्त हो गए समाधि हो जाएगी लेकिन है तो बहुत कठिन इसे नीचे गाते हैं यदि उभयाधीन चित्तवृत्ति अंतिम पंक्ति था ना बाष्प उभयाधीन है और यही समझ में नहीं आता व्यक्ति को जब दो साधनों के अधीन व्यक्ति हो जाता ना उसके लिए परेशानी हो जाती ये नहीं पता चलता ना कौन सी कितनी होनी चाहिए दो की जरूरत भाई भोजन बनाने वाले को पता है ना आप चावल और दाल डाल देना है कितनी बनेगी ठीक है भाई कितनी डालनी दाल ज्यादा डाल दे चावल कम डाल दे तो भी खिचड़ी है चावल ज्यादा डाल दो कम में दाल डाल दो तो भी है दाल ज्यादा डालो चावल कम डालो तो भी है है ये नहीं जैसा भी बनाओ खिचड़ी तो बनी गई लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होएगा वो जैसा भी काम चला थोड़ा वैराग्य अभ्यास ज्यादातर डालो या ज्यादा वैराग्य अभ्यास कम कर दो तो काम चले ऐसा नहीं चलने वाला समाधि यहाँ पर ऐसा नहीं है समाधि कोई खिचड़ी नहीं है अब यही आपकी समस्या खड़ी होती आदमी को कितनी अभ्यास करनी चाहिए और वैराग्य की जो पराकाष्ठा क्या है अवधि क्या है वो समझना है उसके आगे सूत्र आरम्भ होते हैं इस बात को अनेकों लोग अनेक प्रकार से कथन किए हैं एक दो बात हम बताएंगे जैसे कि तुलसी मानस का एक चौपाई है इस विषय बड़ा सुंदर दृष्टान देता है वो मुकुर मलिन और नयन विहीना मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देख किमी दीना आदमी अपना चेहरा देखना चाह रहा है दो चीज चाहिए दोनों नहीं है तो देखेगा कैसे मुकुर मलिन मुकुर मने दर्पण मलिन है नयन विहीना नयन भी नहीं है अब अपने प्रतिबंध कैसे देखेगा यही हाल हर आदमी को रखा अंतकरण मलिन है और वे दृष्टि नहीं है अंतकरण मलिन हो गया है और विवेक दृष्टि नाम का चीज नहीं विहीन हो गया अतः राम रूप कैसे देखेगा राम रूप देख ही किमी दीना किस प्रकार से उस भगवान का स्वरूप को देख पाएगा जब दोनों ही नहीं अतः दो साधन अति आवश्यक अंतकरण शुद्धि और विवेक दृष्टि वैराग्य विवेक दृष्टिकोण मतलब वैराग्य कुछ नहीं विवेक जैसा जैसा होता है वैसे वैसा वैराग्य बढ़ते जाता है एक तरफ तो यह हो गया अच्छे में प्रिय दुर्योधन बोल रहा है विवेक है उसके पास जाना धर्मम न च मे प्रवृत्ति जाना धर्मम न च मे निवृत्ति के देवे न हृदय स्थित न यथा नियुक्तों से तथा वह करो कोई ऐसा देव हृदय में प्रवेश कर बैठा हुआ है या देव शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है इन्हें समझ ना तो भगवान बैठे हुए हैं ब्राह्मण यंत्रारूढ़ानी माया जो कहा ब्राह्मण सर्वाभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया वो नहीं लेना यहाँ पर देव से भगवान अंतर बन के बैठ करके हमको नचा रहा है ये कह रहा है दुर्योधन ऐसा नहीं है दुर्योधन बड़ा चालाक देव शब्द प्रयोग कर दिया उसने केनापि देवे ने हृदय स्थित कोई ऐसा देव है जो हृदय में स्थित यथव यथा नियुक्तोस वो जैसा मेरे को नियुक्त कर रहा है वैसे वैसे मैं काम करते जाता हूं यथा भी तथैव करोगी यहां देव शब्द का अर्थ महत्व वह देव का जो अंदर बैठकर धर्म का जानते हुए धर्मांतर चलने नहीं दे रहा है अधर्म के जानते हुए उसे निवृत्त होने नहीं दे रहा है वह देव कौन है क्या लेना पड़ेगा यहां पर यह नहीं कह सकते उसका शास्त्र ज्ञान है तो विवेक ज्ञान है विवेक दृष्टि के पास है क्या शास्त्र अभ्यास नहीं बोलोगे वैराग्य की तो अभ्यास नहीं ये कहोगे क्या दुर्योधन को नहीं सच्चाई थे तो उसके विवेक विवेक ज्ञान ही नहीं है इसे याद देव शब्द अर्थ गीता के अनुसार करना पड़ेगा काम एश एश रजगुण समुद्भव ऐसा काम एश क्रोधेव ये देव और कोई नहीं कामना ही है केना भी देव ने काम रूपी देव है हृदय स्थिति वो हृदय में स्थित है ये से हृदय श्रद्धा कामा कहा है हृदय में सारी कामनाएं भरी पड़ी है और कामना रूपी देवता है यहाँ पर भगवान नहीं है उससे प्रेरित हो गया है और प्रेरित होकर के जैसा कामना होते जा रहा है वैसे वैसे गलत सलत काम सब कर रहा है भले वो धर्म अधर्म सब कुछ देव शब्द वाच्य कामना वैराग्य के अभाव देखो उसके अभ्यास है शास्त्र का पूरा अभ्यास रटा हुआ धड़ाधड़ बोल सकता है दुर्योधन लेकिन कामना होने के से वैराग्य का भाव हो गया पहले दृष्टान दोनों नहीं है न अंतकरण में शुद्धि है न विवेक दृष्टि इसके पास यह अंतकरण शुद्धि रूपी है शास्त्र को प्राप्त किया है किंतु क्या करे वैराग्य नहीं अंतकरण शास्त्र के तो प्राप्ति अभ्यास है वो उतरा तो प्राप्त है उसको लेकिन वैराग्य का भाव और दुनिया में देख रहे हो बहुत सारे यहाँ फकड़ सक्कड़ नागा वगैरह घूम रहे नंग धड़ंग होकर के भी पहाड़ों पे तपस्या कर रहे हैं बड़े विरक्त लेकिन वैराग्य नहीं वे, वैराग्य है विवेक नहीं विवेक नहीं ज्ञान नहीं शास्त्रों का विवेक जो अन्यता ख्याति होनी चाहिए पुरुष और जगत का जो भेद के रहस्य जो समझना है ग्रंथि को तोड़ने का वो नहीं जानता वैराग्य इसलिए तीन दृष्टान देख रहे एक में दोनों नहीं है एक में वैराग्य नहीं है ज्ञान है तीसरे में वैराग्य है ज्ञान नहीं है तेरे तीनों के तीनों भी संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे मुक्ति के मार्ग की योग्य नहीं इसलिए आप समझना पड़ेगा इन दोनों को हमें किस प्रकार से अपनाना है ताकि अपना रास्ता साफ हो इन दोनों के ही द्वारा मिलकर के दोनों का आपस में ही हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है इसलिए पहले अभ्यास रचन करते हैं तब तक स्थित यत्नो अभ्यास तत्र स्थित यत्नो अभ्यास तत्र उन दो साधनों में अभ्यास वैराग्य यो हो अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में से अभ्यास को बता स्तव स्थिति की प्राप्ति कौन सी स्थिति स्वरूप स्थिति का प्राप्ति में यत्न एव अभ्यास यह स्थित प्रयोजन को बता रहा है फल अभ्यास का फल क्या है वो बता रहे स्वरूप स्थिति का प्राप्ति ही अभ्यास का फल है और अभ्यास का स्वरूप क्या अभ्यास क्या चीज है तद यत्नो अभ्यास तत्र तय हो उन दो साधनों के बीच में से पहला जो साधन अभ्यास है वह अभ्यास रूप साधन का स्वरूप कथन कर रहे हैं यत्न यत्न करने का नाम अभ्यास यानी यत्न रूपी अभ्यास को करने से क्या लाभ होगा तो स्थिति की प्राप्ति होगी रज और तमोवृत्ति शून्य चित्त की एकाग्र संपादना का नाम ही स्थिति है रजगुण और तमगुण आकार वृत्तियों से रहित चित्त की जो एकाग्र भूमि में पहुंचने का नाम स्थिति उस स्थिति में पहुंचने के लिए यत्न अपेक्षित है वह यत्न ही अभ्यास है और वो भी कैसा होगा यत्न क्या है तो घूम रहे फिर रहे दौड़ भाग लगा दिया दौड़ रोज लगाओ एक किलोमीटर दौड़ वो भी तो यत्न है यत्न तो वो भी है अरे ये सब तो छोड़ो दिन भर सबरे दोपहर शाम पांच छह भंडारा खाना कोई कमी नहीं है कितना दौड़ना पड़ता है वहां जाके बैठना पड़ता है कहीं धूप कहीं जूतों पर भी बैठ के खाना पड़ जाता है <laughs> क्या मुसीबत होती है लेकिन ऐसा ये भी यत्न नहीं क्या नहीं वो भी यत्न है पहले यहाँ बताएंगे यत्न क्या है अष्टांग बताएंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याधारणा ध्यान ये यत्न यहाँ यत्न तो होते हैं और लौकिकी यत्न है शास्त्रीय यत्न नहीं शास्त्रों क्या पता है जो साधन रूप यत्न वो करना है इसलिए यत्न सिला है ये हमारे साधना नाम असकृत अनुष्ठान करना ये हमारे साधनों का असकृत एक बार नहीं बारंबार लगातार अनुष्ठान करने का नाम यत्न और स्थिति हो गया रजगुण तम गुण रहित सप्त प्रधान चित्त की एकाग्र भूमि में पहुंचने का नाम स्थिति है एकाग्र भूमि आप स्थिति को प्राप्त करने में आप यत्न अर्थात संयम आदियों का निरंतर अनुष्ठान करना का नाम अभ्यास है भाष्यकार कहते चित्त स्थिति की व्याख्या कर रहे चित्त का स्थिति क्या है आवृत्तिक प्रशांत वाहिता चित्त आवृत्ति खो जाए आवृत्ति का मतलब क्या रजगुण तमगुण आकार सांसारिक वृत्तियों से रहित हो जाए केवल सप्ताकार वृत्ति बना रहे वृत्त भाव की अवस्था नहीं ये तो अभी एकाग्र भूमि है उसके निरुद्ध भूमि निरुद्ध भूमि से बाद में तो मोक्ष होता है अत्यंत भाव जो है वृत्तियों का अत्यंत भाव मोक्ष में इसलिए यहाँ अवृत्ति कार्य रजगुण तमगुण शून्य सप्त प्रधान चित्त एकाग्र भूमि उसे कहते प्रशांत वायता और स्पष्ट कर दिया प्रशांत वायता जहां रजगुण है शांत वायता नहीं होता है वृत्ति बड़ा अंदर खलबल खलबल मचते रहता है जैसे आप सबका यही हाल है किसको कुछ चाहिए किसको चाहिए दिन रात चलते रहता है खोपड़ी कभी विश्राम पाता है क्या सोचते वक्त भी सोचते रहता है बस वो सोच आपकी अकल में आती नहीं तो अलग बात क्योंकि आपका मन थोड़ा अलग हो रखा है ना वहां से लेकिन अपना जो सूक्ष्म मन होता मन का दो हिस्सा मानते हैं सूक्ष्म और एक स्थूल स्थूल मन हो गया लेकिन सूक्ष्म मन अपना काम कर दे है लेकिन इसकी भी वृत्ति का समाप्ति तब होगी इसलिए प्रशांत भाई तक करने से रजगुण और तमगुण का अभाव उसका नाम स्थिति है तदर्थ उसको प्राप्त करने के लिए एकाग्र स्थिति को प्राप्त करने में एकाग्र भूमि को प्राप्त करने के प्रयत्नों प्रयत्न करने चाहिए प्रयत्न का मतलब वीरियम वीरियम कह दिया तो प्रयत्न और वीर के पर्यायवाची कर दिया प्रयत्न करना है लेकिन ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रयत्न कर और आगे और विशेषण दिया उत्साह कहीं भी आलस्य नहीं करता है प्रयत्नो वीर उत्साह तीनों पर्यायवाची एक दूसरे का साथ साथ भाव रूप ग्रहण कर पूरक है एक दूसरे के में पूरक है प्रयत्न तब पूरा होगा जब वीर पक्का होगा जब वीर समर्थ हो जाए तब उत्साह भी बनी वीर बीच में रख दिया है उत्साह और प्रयत्न का मूल आधार संपिपाद ईशया उस स्थिति तदर्थ बोले तो ना पहले कुछ तत्म स्थिति का संपादन करने की इच्छा से तत्साधना उस स्थिति के अनुकूल यम नियम आसन प्राणायाम आदि साधनों का अनुष्ठान करने का नाम अभ्यास है इसलिए प्रशांत वाहिता विमलता सात्विक वृत्ति वाहिता ऐसी एकाग्र का प्राप्ति करने के लिए अभ्यास सबसे पहला आरोप होता है अभ्यास भी कोई कहे हुए आप बहुत समय से कर ही रहे हैं कहते नहीं कितना समय से कर रहे हैं आप जानते हैं है? कोई नहीं बता सकता कि वो कितने समय से कर रहे हैं आप इस जन्म का भी गणना करके केवल अधिक से अधिक बता पाओ कि कितने समय से आप कर रहे हैं लेकिन आप ठीक ठीक नहीं बता सकते कितने समय आपने किया है कितने समय से कर रहे हैं ये बता सकते हो लेकिन कितने समय किए हो ये नहीं बता दोनों बहुत अंतर है आप कह सकते तो जब से मैं हो संभाला हूं आठ उम्र से लेकर के हमारे जन्म संस्कार हो गया तब से मैं भजन करता हूँ जब करता हूँ तब करता हूँ पूजा पाठ करता हूँ ठीक है आठ उम्र से आप कर रहे हैं आठ उम्र से आज तक पूरा कर रहे हैं आप आपको नहीं प्रतिदिन 24 घंटा पूजा पाठ में जा रहे हैं सारी जिंदगी पूजा पाठ में चली गई है नहीं अन्य क्रियाकलापों में चली गई कई बार व्यवधान भी हो गया बुखार आ गया कुछ हो गया छूट गया कई बार जो चाहता वो नहीं मिली भगवान पर नाराज हो गया भगवान को फेंक दिया गंगा जी में छोड़ा है छोड़ दिया पत्थर है कुछ नहीं ऐसा भी कई बार हो जाता है तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है कितने जन्मों से होते आ रहे किसको मालूम इसलिए कहते हैं अभ्यास जो करना है ये मत सोचो मैंने दस साल किया या बारह साल किया तो बहुत बड़ा काम कर दिया बहुत कर दिया नहीं सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित हो दृढ़ अभ्यास वह जो अभ्यास दृढ़ भूमिता को प्राप्त करता है परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता तब जब आप तुमने किंतु इसलिए कर अभ्यास तो सभी करते हैं सभी लोग अभ्यास कर रोज कुछ ना कुछ अगरबत्ती कोई जला रहा है कोई कुछ कर ही रहा है रोज कर ही रहा है ना इसे तू कर साफ तू किंतु वह अभ्यास अपनी परिपक्व अवस्था को दृढ़ भूमिता को तब प्राप्त करता है जब वह व्यक्ति काल पर्यंत उसका सेवन करता है निरंतर सेवन करता है और सत्कार पूर्वक सेवन करता है तीन विशेषण दे दिया स अभ्यास आसेवित दृढ़ वह अभ्यास सम्यक प्रकार आसेवित होने पर अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता तीनों कैसा आसेवन होनी चाहिए उसके लिए तीन विशेषण दीर्घ काल निरंतर योग और सत्कार दीर्घ काल आसित विशेष सुख वासना आदियों से अविचलित होनी चाहिए कहने के तात्पर्य वही व्यक्ति दीर्घ काल तो कर सकता है उसके लिए विषय की वासना विशेष सुख की जो वासना आती है मन में उसको त्यागते रहना उसको त्याग के बिना काम चलेगा नहीं तो आप जैसे सुंदर बढ़ते जाता है व्यक्ति को अनेक प्रकार विशेष सुख की इच्छाएं जगती रहती जगती रहती इसे का संत वही जो मन को मन को मारा उसके बिना साधना नहीं होता इच्छा होगी चलो वहां चलते हैं आज तो वहां बहुत बढ़िया भंडारा है तो बस चल देते हो और पर्ची भी नहीं है तो इधर उधर से पता लगाते हो कमीशन पे ले लेते हो <laughs> ये उचित नहीं है ऐसे तो अभ्यास कभी सफल नहीं होगा इसलिए भगवान ने भी कहा अनेक जन्म संस्कार तथो याति पराम क्यों लग रहे अनेक जन्म एक ही जन्म ये वेद अवेदित अत सत्यम यह चेद अवेदित अत सत्यम अस्ती नौ चेद आदि महती विनश्यति एक ही जन्म इसी जन्म हो सकता है एक तरफ ये भी कह रहा है श्रुति अनेक जन्म संसिद्धि ये क्यों कह रहे कारण ये कि कोई हीर का तक करता नहीं बीच जो विषय वासना आती है वो विषय वासना सर बह जाता है कभी सोचता है एक दो लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट होना भी जरूरी है बस हो गया छुट्टी उसकी सारा अभ्यास छोड़ देगा और सेटों का पीछे घूमेगा कहीं से आ जावे माल पानी अब दो लाख भर जाएगा तब तो सोचेगा तुमसे क्या होता ब्याज दर तो कम हो गया और सरकार ने ब्याज तो घटा दी है हाँ वो पांच के चक्कर में पड़े निन्यानवे के चक्कर चालू हो गया तो इसलिए कहते दीर्घ काल अभ्यास करना ही कठिन है क्यों विशेष सुख की वासनाएं जो जगती रहती है उससे विचलित न होने का नाम दीर्घ काल की सेवन हाँ, दीर्घ काल का सेवन करने पर सफल नहीं हो सकता मान लो कोई कहता मैं दीर्घ काल सेवन कर रहा हूं सारी इच्छाओं को मार डाला मैं और दीर्घ काल कर रहा हूं बीसों साल से कर रहा हूं लेकिन क्या करो उसमें निरंतरता नहीं दर्शन किया पांच दिन आराम किया तीर्थ यात्रा में चला गया ऐसे भी होते ना स्वाध्याय करने बैठे हैं और पूरा हुआ है नहीं आधे में ही गया हो गया काम हमारा चल दिया जितनी कोई भी तुम बैठे हो संकल्प करके वो करो पूरा क्यों भाग रहे हो बीच बीच में इधर भागते किसी का तो मम्मी बुला रही किसी का तो पापा बुला रहे किसको पेट में गैस हो जाता है किसको तीर्थ यात्रा याद आती है और भागता है निरंतर तक है और फिर आएंगे महीना भर बाद महीना भर छुट्टी मार दिया महीना भर छुट्टी तो मारी दिया और व्यवधान नहीं है क्या वो निरंतर ही है वो तो दीर्घ का तो कर रहे हैं कहने के लिए छह छह साल से पढ़ रहा हूं मैं आपसे ही पढ़ रहा हूं लेकिन हर साल दो महीना छुट्टी ले रहे हो वो नहीं दिख रहा है फिर ये काल तो सही है दस बारह साल से लगे हुए हम मना नहीं कर रहे लेकिन निरंतर तो तोड़ तोड़ के तुमने अपने काम खराब कर दिया दीर्घ काल तो होते हैं लेकिन निरंतर नहीं होता इसे कहते निरंतर भी होना जरूरी है और कई लोग निरंतर से कर रहे हैं खाने के लिए भाई हम बनारस में थे बारह साल बस ये के लिए श्रद्धा वद्धा कुछ नहीं है न पढ़ना वढ़ना है रहना है हिमालय में है कभी चले जाएंगे बुद्रनाथ केदारनाथ लंगोटी में बैठ के वहां बस के ऊपर फोटो खिंचवा देंगे कभी तो दुनिया को बताएंगे वहां तपस्या की उसी के लिए रह रहे हैं यहाँ ऋषिकेश उसी के लिए रहते बनारस में बहुत तो कहानी के दीर्घ काल रहे निरंतर भी रह रहे हैं कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे अपने तपस्या नहीं किया था इसे जान करके कहीं तो ऐसे छह छह साल घर का नाम नहीं लेते चाहते ही नहीं कभी नहीं जाते तो उन लोगों को कहने के बाद में आएगा ना देखो छह साल हम लगातार बड़खड़ तपस्या कर क्या भंडारा खाता रहा तपस्या क्यों बढ़वाने रहे फिर फोटो जरूर छिछा देते हैं और बस यूँ बैठ जाए आँख के ऊपर ये वो करके जाए एक दिन फोटो हमने देखे हैं लोग करे हुए इसी ने उद्धीर कार्य भी है निरंतर भी कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं इसलिए कहते सत्कार श्रद्धा किसी के अभाव होने पर भी लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती श्रद्धा मन लभते ज्ञानम तत्र सहित इंद्रिय भगवान का वो श्रद्धा का यह अभाव महीने भर श्रद्धा रखती है फिर कहते हैं आचार्य जी ने तो ऐसा बात बोल दिया दिमाग खराब कर दिया बेकार आचार्य बस हो गया सारे महीना भर साल भर की श्रद्धा एक ही मिनट में खत्म कर दिया तो किस दृष्टि से कहें क्यों कहें क्या है कुछ नहीं रहे हमारे संप्रदाय की निंदा कर दिया चुप हो गई सारी श्रद्धा चौपट हो इसलिए श्रद्धा टिकना बड़ा एक बार विदेश में प्रश्न पूछा गया गुरु जी से कि इतने लोग आपके शिष्य हैं कोई कुछ बना क्यों नहीं अभी तक मेरा प्रॉब्लम इस श्रद्धा ही समस्या सबसे बड़ा है नहीं क्या कर कोई दो साल पढ़ा कोई तीन साल कोई चार साल कोई भाग गया कोई आसन का इतने भी अपने आप को पढ़ा समझ लिया योगी योगी राज लिखने लगा योगाचार्य और भागा हुआ अपने दुकानदारी कर रहा है और क्या करे समाधि नहीं लगी तो दोष गुरु का क्या है गुरु का क्या दोष है वो पूछ रहे मेरे गुरु जी से आपके शिष्य में से किसी को क्यों नहीं समाधि लगी समाधि लगे क्या कैसे किसी को समस्या ये है ना तो श्रद्धा ही बिगड़ती है इसे कहते हैं सत्कार आसेवित होना चाहिए लय विक्षेप कषाय रसास्वादन ये सारी चीजों का अभाव किनारा देखो ये सारी चीजें जो है सत्कार में बाधक होते हैं जो श्रद्धा में बाधक एक तो लय बार बार आपकी इच्छा मर जाती है आपकी इच्छा है कि हमें समाधि लगे शुरू करते हो कुछ दिन के अंदर तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा बस दिमाग में आ गई ये बात कोई तो छोड़ सबसे पहले इच्छा का लय ये सबसे बड़ी आप इच्छा को बनाए रखना जैसे उसने पार्वती ने कहा कार्यम व साधयामी शरीरम व पापी या तो मैं शरीर को कार्य को सिद्ध करके दिखा दू या तो मर जाऊं लेकिन दूसरे बात नहीं कहा वो इच्छा की दृढ़ता है वो लय का अभाव इच्छा का लय हो गया तो आपका साधन समाप्त हो इसे लय सबसे बना दोष दूसरा विक्षेप बारम्बार विक्षेप होता है कभी बोलेंगे तो राजयोग करते हैं कभी कहते नहीं क्रिया योग किया जाए चलते राजयोग क्रिया से क्या होता है चलो भक्ति योग करते हैं चलो राम राम राम करो कहते अरे भजरे साधु सीताराम क्या है पढ़ ले पढ़ना लिखना ब्राह्मण काम होता यह राम राम से क्या होने वाला है थोड़ा पढ़ लिख ले तो पढ़ लिखने लगे तो उससे क्या होता है राम राम कर ले वो जंजाल फंसा रहा था इधर उधर इधर उधर उधर उधर कभी हनुमान कभी राम कभी कृष्ण कभी सीता कभी किसी को पकड़ लिया कई तो संप्रदाय ही बदल देते हैं हाँ, कम से कम वो भी एक ही संप्रदाय में रहना कभी राम पकड़ा कभी सीता को पकड़ा कोई बात नहीं कभी लक्ष्मण को पकड़ लिया कभी हनुमान जी को पूछ पकड़ लिया काम चल रहा है लेकिन एक ही संप्रदाय में तो है अरे हाँ, तो कई तो संप्रदाय भी बदल देते हैं बड़े विचित्र हो जाते हैं बहुरूपिया हो जाते ये गड़बड़ इसे कहते विक्षेप है दूसरा हो गया तीसरे में कषाय अपने अंदर के मल है ये मल ही पादक बन जाता मन ही जो है ना आपके अंदर का श्रद्धा में अवरोधक श्रद्धा को तोड़ देते हैं अपने अंतकरण बल अपना अभिमान अपने अभिमान पर चोट पड़ा तो गुरु बेकार हो गया अभिमान पर चोट लगना किसको चाहता है कौन चाहता है अपने अभिमान को चोट लग जाए कोई नहीं चाहता इसलिए कषाय जो मन है अभिमान है वो रोकता चौथा रसास्वादन विभिन्न विषयों के अंदर रसास्वादन है उसके अंदर अतएव व रसास्वादन के कारण से भी वो साधन के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है रसास्वादन और अंत में ये सब के मान लो आपके पास लय भी नहीं विक्षेप भी नहीं कषाय भी नहीं रसास्वादन भी ये सब आंतरिक और वायु विषयाधीन होने वाले कोई भी चीज नहीं किंतु आकांक्षा है महत्वाकांक्षा में ये बनू मैं वो बनू ये सबसे बड़ा बात है वो सब तो स्थूल हो गया ये अत्यंत सूक्ष्म अंदर छिपा हुआ है पता नहीं है किसके पेट में है कि मैं मंडलेश्वर बन जाऊं मैं शंकराचार्य बन जाऊं मैं ये बन जाऊं मैं वो बन जाऊं पता नहीं क्या क्या है कि किसी को खुद को पता नहीं आगे वो एन मौके बराबर साधना में बात इसलिए कहते वो अंतिम चीज है इनके परिहार अपरिहार्य हो जाए तो वित्थान संस्कार प्राप्त लेना अदृढ़ भूमि अभ्यास इनका परिहार नहीं करोगे कभी भी अभ्यास दृढ़ भूमिता को परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए अभ्यास की परिपक्वता के लिए ये छह जो पदार्थ बताया गया इनसे बहुत सूत्र करना चाहिए इसके अलावा आगे बताएंगे वैध स्थान आदि एक अंतराय का सूत्र ही आएगा वहां गिनाएंगे नौ प्रकार के अंतरायों को गिनाएंगे वो अलग इस प्रकार से अभ्यास के बारे में दो सूत्र के बारे में समझाया अब वैराग्य के बारे में दूसरा साधन दृष्टान श्रविक विषय वित्त वशीकार संज्ञा वैराग्यम उसी कार्य संज्ञा वैराग्य हम क्यों कह रहे इसका अंदर मतलब और भी संज्ञा वाले वैराग्य होते होंगे तभी तो विशेषण दिया केवल वैराग्य हम कहते वशिकार नाम का वैराग्य इसमें मतलब अन्य नाम की भी वैराग्य होंगे इसलिए हमें विभाजन कर समझना पड़ेगा वैराग्य दो प्रकार का परंच अपरंच अगला सूत्र पर मैं सोलवा सूत्र पर वैराग्य को बोलेगा ये जो पंद्रवा सूत्र इसलिए ये अपर वैराग्य का ही है पर वैराग्य नहीं पर वैराग्य तो अगला सूत्र आएगा सोलह नंबर एक सोलह ये है अपर वैराग्य बस अपर वैराग्य भी फिर चार प्रकार अपर वैराग्य भी चार प्रकार ये तमाम व्यतिरेक एक केंद्रीय और इस सूत्र में कहा हुआ वशिकार से पहला नाम है यतमान दूसरे का नाम व्यतिरेक तीसरा एक केंद्रीय चौथा वशिका वशिका संज्ञा का लक्षण तो यहाँ सूत्र में ही है इसलिए बाकी का लक्षण बताता हूं देखिए नित्यानित्य विवेक इच्छा यतमान जिसको ज्ञान भूमि शुभेच्छा भी कहते हैं ना नित्य अनित्य के विवेक करने की इच्छा जग जाए संसार से थोड़ा सा मुख हट गया उधर से थोड़ा था और आप जानना चाह रहे हैं जिस संसार का पीछे में भाग रहा हूँ जिस पत्नी बच्चे वगैरह को लेकर संसार में चल रहा हूँ इनमें से कौन सा नित्य है कौन सा नित्य है कौन सा सत्य है कौन सा मिथ्या है किसको पाना है किसको त्यागना है यह निश्चय ही उपाधियता का निर्णय करने की इच्छा जो जगती है उस वैराग्य का नाम यतमान मानस वैराग्य नित्यादि विवेक इच्छा यथमान वैराग्य अभ्यास ही ना दोषाणाम पक्वा पक्वीयता विवेचनम व्यतिरेक वैराग्य अभ्यास के द्वारा करते करते करते आपके अंदर विद्यमान दोषों को आप समझ रहे इतनी दोष मैंने नष्ट कर दिया इतना दोष मेरा बाकी है ऐसा आपके अंदर विवेक विज्ञान होने का नाम व्यतिरेक वैराग्य अभ्यास है ना दोषाण पक्व अपक्व यता विवेचन व्यतिरिक वैराग्य अभ्यास करने से आपके अंतकरण विद्यमान जो अनेक प्रकार सब दोष बताया जो पहले उन दोषों में कितनी दोष समाप्त हो गई मिट गई नष्ट हो गई है और कितनी दोष बाकी हैं उसकी यत्ता उसकी जो नाम निश्चय कर लेना उसका नाम व्यतिरिक नामक वैराग तीसरा आता एक प्रवृत्ति परित्यज्य मनसी औत्सुक्य स्थापनम एक इंद्रियम परित्यज्य मनसी औत्सुक्य स्थापना एक वैराग्यम सकल इंद्रियों का प्रवृत्ति का त्याग पूर्वक मन का अपने स्वरूपानुभूति के लिए एक उत्कंठा जगना उत्सुकता का उत्पन्न हो जाना और मन के अंदर तड़प है ना होनी चाहिए मैं अपने आत्मा का अनुभव करूं ये जो तड़प अंदर में होना उसका नाम एक इंद्रिय विराग अब हमारी सारी इंद्रिया एक चीज को केवल जानना चाहती है और सब कुछ छोड़ दी है इसलिए उसका नाम एक इंद्र एक ही तत्व को जानना चाह रहा है अपने आत्मा को जानना चाहता है अपने आत्मा का अनुभव करना चाहता है उस वैराग्य का नाम एक ही उससे भी आगे जिस इस सूत्र में कहा हुआ वह शिकार वो इंद्रिय का लक्ष्य तत्व भी दृष्टि आनुषमिक नहीं होनी चाहिए कईयों उनको होता ना एक केंद्र है बस एक ही लक्ष्य है बस स्वर्ग मिलना चाहिए किसका एक केंद्र हो रखा है उसके सारे संसार के हर चीज का वैराग्य लेकिन इंद्र पद से वैराग्य नहीं वो इंद्र पद को चाह रहा है ऐसा एक पुराणों में आपने देखा सारी छोड़ करके तपस्या कर रहा है क्यों हमें अमुक पद चाहिए और कुछ नहीं तो मनुष्य का एक सबसे बड़ा बड़े बड़े राक्षसों के अंदर तो स्वभाव देखा गया हमें कोई न मारे बस हम मरे नहीं अमर हो जाए बस यही चाह है जो मरणशील है जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत जन्म उस बात को भूल जाते हैं और शरीर की अमरत्व की आकांक्षा सदा मैं बना रहा हूं सदा राजा बना रहा हूं सदा मेरा अधिकार चले दुनिया नहीं सोचता ये अधिकार कि कुछ नहीं होता है उसका अधिकार को अधिकार करनी पड़ती है हम लोग क्या तीन फार्मूला तीन अंग्रेजी में बोलते हैं उसको an appointment is a disappointment हमेशा कोई भी चीज की आपकी उपलब्धि हुई आप मान रहे हो ना वो वास्तव उपलब्धि नहीं है वो अनिच्छा का कारण बन जाएगा आप मेरे भूख को तड़ को बढ़ाएगा घटाएगा आप उससे और आगे बढ़ना चाहिए जैसे देखो कोई कुछ नहीं है महात्मा है ठीक ठाक है और उसको बिठा महाराज आप कोठारिये उसके दिमाग घूमने चालू हो जाता है तो बताया मैं कोठारी हो गया अब तो मैं महंत कैसे बनूंगा और वो चक्कर के रहे सारी चमचकरी चापलूसी बेईमानी करते करते महंत बन जाएगा अब महंत बनेगा फिर सोचेगा मंडलेश्वर कैसे मंडलेश्वर तो महामंडलेश्वर कैसे होगा तुमसे सोचेगा फिर अखाड़े का मंडल कैसे बनेगा उसके लिए बड़ी तिगड़म चल रही की क्या करें और बोझ रहे कैसे हम बन जाए अखाड़े के मामले चल न बन पाए तो अब वो भी बन जाएंगे मान लो फिर सोचेगा शंकराचार्य कहा तक जाएगा बेकार चक्कर एवरी अपॉइंटमेंट इज डिसअपॉइंटमेंट सच्चाई प्रिय तो दूसरे नंबर में ये जो अधिकार है ना पावर पावर इज पॉइजन ये अधिकार एक जहर है आपको भी खत्म करता है आपके धर्म को खत्म करता है दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है बहुत खतरनाक जहर पावर इज इसीलिए अंतिम निष्कर्ष इसका है हेड इज हेडिंग कुछ भी हेड बनने का मतलब वो सरदर्द है महंत बनना मालिक बनना कुछ भी चीज के कलम का हेड कलम का हेड बन जाओ मेरा कलम तो वो भी सरदार जी हो गया और कलम यदि मान लो उसकी स्याही बहने लग जाए वो भी लोग शंका करने लग जाए <laughs> अरे स्याही बह रही है और नहीं लिख रही तो परेशान लिख रही तो परेशान है हर तरह से परेशान रहोगे उसकी चमक निकल जाए तो परेशान पुरानी हो गई तो परेशान बड़ा झंझट किसी का मैं बस मेरा मानो ही नहीं वो सबसे बढ़िया है मेरा किस चीज को मानो वो मुसीबत का काम जो युग में है इसे ये चीज है इस चीज को रखो दिमाग में तो एक केंद्र सही से एक केंद्र बन जाओगे नहीं तो एक केंद्र तो बहुत होते लेकिन कोई दृष्ट वस्तु के प्रति एक केंद्र हो गया कोई आनुषंगिक वस्तु के प्रति एक केंद्र हो गया कोई संसार के पदार्थ के प्रति एक इंद्र उसे सारी इंद्रिया संसार को कुछ नहीं चाहती है बस मेरे को यही चाहिए पकड़ रखा है हम एक केंद्र को समझा तब तो बढ़िया ढंग से एक पंजाबी गाना मैंने सुना तब मेरे दिमाग फ्लैश हुआ कि ये सही बोल रहा है यही एक केंद्र गृहस्थी का एक केंद्र है वो क्या है पता है वो गाता है यही कूड़ी लेनी है यही कूड़ी लेनी है लंगड़ी लूली कहानी है यही कूड़ी लेनी है क्यों पता है बहुत सारे टीवी लाएगी ना कार लाएगी दुनिया भर देगी और लंगड़ी हो तो क्या हो गया पूरी में लड़की पूरी कहते लड़की को वो कहते यही कुड़ी मानी यही लड़की मुझे पाना है दुनिया में और कुछ नहीं पाना है चाहे लंगड़ी है चाहे लूटी है चाहे कहानी है चाहे अंधी है हमें कोई परवाह नहीं मुझे यही पाना क्यों कदम दुनिया भर का वो दे दहेज ये गाने में है लेकिन तात्पर्य हमने समझा देखो उसकी एक केंद्रीय हो गया वो निर्णय ले लिया मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए बस यही चाहिए वो एक केंद्रीय लेकिन एक केंद्र भौतिक वस्तु के प्रति हो गया वो गलत इसलिए उससे उत्तरवर्ती का वशिकार संज्ञा दृष्ट और आनुषंगिक किसी के प्रति भी केंद्र नहीं होना वो वशिकार संज्ञा वैराग्य उसका नाम वशिकार संज्ञा दृष्टानुश्रवित विषयों से वितृष्टा का नाम वशिकार संज्ञा वैराग्य जब इसलिए लेता शुरू करता वहीं से यही कूड़ी लेने से शुरू कर रहा है स्त्रियो वाशिका अन्नपानम बाद स्त्रिय अन्नपानम ऐश्वर्य दृष्ट विषय है इनसे विकृष्ण और आनुषर्मिक के लिए स्वर्ग वैदेह प्रकृत प्राप्त हो आनुषंगिक विषय वितृष्ट स्त्रियों की स्त्री की प्राप्ति अन्न की प्राप्ति पान की प्राप्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति अधिकार आदि सारी चीज ऐश्वर्य में ले लेना और दृष्ट विषय वितृष्ट ये सब दृष्ट विषय इत्यादि अनेक पदार्थ आदि कह दिया इसी से स्वर्ग और विदेह प्राप्त विदेह और प्रकृति लय के बारे में आगे सूत्र ही आए तो सूत्र विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे पुराण के श्लोकों के आधार पर हम लोग विचार करेंगे विधेय क्या चीज है प्रकृति लय क्या चीज है और बाद में विचार आएगा वह विस्तार से समझो वो सब आनुश्रविक विषय है आनुश्रविक फलों में से है आनुश्रविक का मतलब क्या न प्राप्त मिति श्राविकम पश्चात अनुष्ठान प्राप्त विधि आनुष्ठ पहले हम श्रवण करते अग्निहोत्र याग है दस प्रणमास याग है अमुक होम है अमुक पूजा है अमुक अनुष्ठान है आपने जाना श्रवण हुआ तत्पश्चात आपने अनुष्ठान की अनुष्ठान करने से आपको फल प्राप्त हुआ ऐसे फलों का नाम अनुष्ठान श्रवणोत्तर श्रवण उत्तरम या पश्चात अनुष्ठान प्राप्त मिति आनुष्ठ श्रवण उत्तर कालीन अद श्रवण पश्चात अनुष्ठान द्वारा प्राप्त आनुष्ठित फलम उस विषयों से वितृष्टा स्वर्ग वैदेह प्रकृति लय तो प्राप्त हो इन फलों की प्राप्ति में भी आनुषंगिक विषयों में भी वितृष्ण वैराग्य से जो युक्त व्यक्ति है इसे अनुश्रवा कहते हैं वेद अनुश्रवा वेद तथो अधिकता उसके माध्यम से ज्ञात और प्राप्त अनुष्ठान के द्वारा उसका नाम आनुश्रविक वह भी दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोग उनमें भी इनके प्रति वैराग्य होना दिव्य वस्तु के प्रति वैराग्य और अदिव्य वस्तु सकल प्रकार की वस्तुओं के प्रति वैराग्य नहीं चाहता एक केंद्र से सही अंतर हुआ एक केंद्र में क्या होता है अदिव्य वस्तुओं को कोई नहीं चाहता है दिव्य वस्तुओं को चाहता वो एक केंद्रीय अवस्था में सारी इंद्रियों के द्वारा विषयों को त्याग करके एक विशिष्ट वस्तु को उसमें ग्रहण कर ले जो कि दिव्य मान रहा है उसकी प्राप्ति के लिए करने लगता है लेकिन यहाँ उससे भी आगे बढ़कर दिव्य और अदिव्य उभय प्रकार विषय संप्रयोग के भी विषय का आपके इंद्रियों के संबंध का होने पर भी प्राप्त होने पर भी न प्राप्ति ने केवल विषय के बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर विषय का प्राप्ति होने पर आप उस तरफ मुख मोड़ेंगे देखेंगे भी नहीं उसका नवशिकार किया गया संप्रयोगी चित्त से विषय दोष दर्शिण विषयों में दोष का दर्शन करने वाला चित्त क्या प्रसंख्यान बलात् मैंने अपने विवेक साक्षात्कार के बल से अनाभोगात्मिका हे उपाधि शून्य वशिकार संज्ञा वैराग्य वो तो अना अनाप होगा अनाप होगा आपके कहा अनाभोग क्या चीज है वो भी समझना है आभोग किसको कहेंगे और अनाभोग किसको कहेंगे आभोग क्या भाव करा अनाभोग आभोग कहते हैं पूर्ण रूप से उसी एका विषय में चित्त का लीन हो जाता जब आपको घड़े की चिंतन हुई घट में चित्त का लय हो गया अर्थात उस समय आपका चित्त घट का आभोग कर रहा है ये योगी भाषण है किसी भी विषय के साथ चित्त का तादात्म न होना ये अलाभ अर्थ विवेक ख्याति के बल पर टिका हुआ यह चित्त विषयों में अनित्यता रूपी दोष को देखते हुए आभोग को प्राप्त नहीं करता अर्थ उस विषय के साथ तादात्मता को प्राप्त नहीं करता है हे और उपाधि से उदासीन भाव में हे उपाधि शून्य आभोग में क्या है तो या तो हेयता थी या तो उपाधेयता आपके अनुकूल विषय है उसमें आप क्या करते हैं आप उपाध्यता स्वीकार करते हैं आपके प्रतिकूल विषय है उसमें हेयता को स्वीकार कर उसको त्यागने का प्रयास करते हैं इसे हेय और उपाधि दोनों भाव से रहित होने का नाम ही अनाभोगात्मिका वो शिकार संज्ञा उस का नाम वशिकार संज्ञा है इस पर और विचार